आपका धन्यवाद कि आपने बात पकड़ ली आप ध्यान से सुन रही थी और आपने फिर याद दिलाया देखिए एक उदाहरण से आसानी से समझ लेंगे वही बात यहां पर लागू होती है कि नरक से स्वर्ग की दूरी मिलीमीटर की है भावना जरा सा इधर से इधर होते ही आप आठ फायदे में आ जाते हैं या एक फायदे में रह जाते हैं घाटे में रह जाते हैं या ज्यादा लाभ में आ जाते हैं एक डॉक्टर बैठे हैं अपने क्लिनिक में दर्द से तड़फता हुआ एक मरीज उनके क्लिनिक में घुसा सोचने की बात है और ईश्वर देख रहे हैं कि उनके फर्स्ट थॉट में क्या फीलिंग है मरीज के बारे में डॉक्टर के मन में पहले कौन सा थॉट कौन सा विचार उठा है अगर यह है कि इससे फीस कितनी मिलेगी पता करो मेडिक्लेम कितना है हुँ? हम्म? ऐसा सोचते ही सिर्फ एक फायदे तक रह गए इलाज किया फीस ली बात खत्म हो गई ठीक है लेकिन अगर मरीज दर्द से तड़फता हुआ घुसा है फीस बाद में सेकेंड थॉट में पहला थॉट क्या है भावना पहली कौन सी है कि मैं किस तरह अपना बेस्ट देकर अपनी सारी नॉलेज और अभ्यास डालकर इस मरीज की तकलीफ ठीक कर दूं ठीक है ना ऐसा सोचते ही जब वो इलाज करेंगे तब ये कार्य पुण्य बन गया बन गया कि नहीं बन गया क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट में फीस का विचार नहीं है दर्द का विचार है सामने वाले को मैं कैसे तकलीफ दूर कर दूं या सामने वाले को मैं कैसे सुख पहुंचा दूं ऐसा सोच के ही किया गया कर्म तो पुण्य बनता है ना इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर फीस न ले लीजिए पर अन्याय से मत लीजिए दूसरे मिलेगी फीस तो पर वो बात की बात है अभी तो इस मरीज का दर्द मैं ठीक कर दूं इसका परिणाम क्या होगा इसका परिणाम ये होगा कि कोई भी कठिन काम करते हुए मन बोझ महसूस करता है लेकिन जैसे ही आप किसी को सुख पहुंचाने के ख्याल से किसी का दुख कम करने के ख्याल लेकर उस काम को करते हैं तब उस काम में आप पूरे डूब जाते हैं और वो काम आपके लिए बोझ न बनकर आपकी प्रसन्नता बन जाता है ये साइकोलॉजी समझिए फिर आपका जॉब आपके ऊपर बोझ नहीं है आपका कठिन काम बोझ नहीं है बल्कि आप बाद में भी अगर आपका टाइम हो गया था फिर भी मरीज आ गया तो भी आप प्रसन्नता अनुभव करते हुए उसका ट्रीटमेंट करेंगे और समय देंगे एक फायदा कौन सा प्रसन्नता का अनुभव दूसरा लाभ यह है कि उस मरीज की उसके रिश्तेदारों की चूंकि आपने बहुत अच्छे से उसका इलाज किया है क्योंकि मन में अच्छी भावना थी इसलिए आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसका इलाज करते हैं तो मरीज और उसके रिश्तेदार आपके कृतज्ञ होते हैं आपको बहुत धन्यवाद देते हैं उनके मन में आपका राज्य कायम हो जाता है और प्रशंसा मिलती है प्रतिष्ठा इसके बाद इसके बाद आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे वो लोग जाकर के दस लोगों को कहेंगे कि जाना तो उनके पास जाना आप सामान बेचते हैं अच्छा व्यवहार और अच्छा सामान ठीक कीमत पर देते हैं तो ग्राहक जाकर के दस लोगों को कहता है भाई उस दुकान पर जाना बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा तो आपके व्यापार व्यवसाय की वृद्धि होती है और धन की वृद्धि भी होती है आपकी मित्रताएं बढ़ती हैं आपका यश बढ़ता है और आपका बिजनेस बढ़ता है और फिर आपको मिलता है आनंद प्रसन्नता से आनंद और गहरी अनुभूति है जब वो मरीज ठीक हो गया है नहीं हो गया आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर अंदर आप जानते हैं और ईश्वर जानता है कि आपने अपना काम अच्छी तरह पूरी ईमानदारी से किया था आप आपकी आत्मा आपको कचोटेगी नहीं इसके बाद आपका ये काम पुण्य बन गया और पैसा वो तो मिलना ही था अगर आप कभी कंसीडर कर देते हैं कोई बहुत गरीब मरीज है और उस पर आपने फीस भी छोड़ दी तो आपके पुण्य की क्वांटिटी और क्वालिटी और उसका वजन और ज्यादा बढ़ गया तो इतने नेत्रहीन आप कहां पाएंगे कि आप रोज एक अंधे को सड़क पार करा दें या किसी का वो और छोटा भी वो छोटा कार्य है लेकिन दस घंटे बारह घंटे जिस प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हैं उसको ही आप अपना पुण्य बना लेते हैं उसी को थोड़ी उसमें निष्काम भावना डाल देते हैं थोड़ा सा काम तो है वो कि भाई अपनी फीस हम ले रहे हैं लेकिन थोड़ी उसमें निष्काम भावना भी आ गई बस वो प्रायोरिटी पर रखिए एक घटना सुना दू मेरे पिताजी बीमार थे और आगरा के हॉस्पिटल में जो सरोजनी नायडू के नाम पर बना हुआ हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर सतीश जी शायद वहाँ पर आपने एम बी वहाँ किया उस वक्त आप नहीं थे वहाँ तो मेरे पिताजी वहाँ एडमिट थे रात को अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हुई तो डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी पर थे उन्होंने कागज पर जल्दी से एक इंजेक्शन का नाम लिखा और कहा कि जल्दी से बाहर जाकर ये दवा खरीद लाओ रात के 12 बज रहे थे करीब इतना ही टाइम था मैं बाहर निकला और देखा दुकानें बंद थी एक दुकान जो सबसे नजदीक नजदीक दुकानों में से जो एक दुकान थी दुकानदार उसका शटर नीचे गिरा रहा था मैंने उसको रोका भाई साहब ऐसा भाई साहब प्लीज मुझे ये दवाई चाहिए तो वो समझ गए एक तो वो मेडिकल स्टोर चला रहे हो इंजेक्शन ही ऐसा है कि बहुत इमरजेंसी में काम आता है मेरी घबराहट सब उन्होंने वो इंजेक्शन का नाम पढ़ा और जहां पर वो इंजेक्शन प्रॉपर जगह होना चाहिए था वहां नहीं मिला तो उन्होंने जल्दी जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और इस कोशिश में उन्होंने सारी दवाएं इधर उधर बिखेर दी वो जो खानों में रखी हुई थी नीचे गिरा दी और इंजेक्शन ढूंढ के मुझे जल्दी दिया मैंने कहा पैसे कल दे देना जाओ जाओ जाओ मैं चला आया पिताजी की तबीयत ठीक हो गई वो इंजेक्शन उनको लगा दिया गया उसके बाद अगले दिन 10-11 बजे मैं दुकान खोलने का टाइम होने पर वो उस दुकानदार के पास गया कि पैसे दे दूं तो वो अपना सब बिखरी हुई दवाइयों को वापस उस उस पोर्शन में रख रहे थे तो मैंने जाकर कहा कि वो पैसे ले लीजिए रात को मैं आपसे इंजेक्शन ले गया था और मुझे बड़ा अफसोस है मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी अभी आप सारी दवाइयां जगह जगह हर जगह रखेंगे इसमें दो तीन घंटे आपके लगेंगे बोले पिताजी ठीक हो गए ना आपके जो पेशेंट हैं मैंने कहा हाँ, आज तो ठीक हो गए आगे ईश्वर जाने तो बोले ऐसा अक्सर होता है कि मरीज नहीं रहता और लोग फिर चले जाते हैं दुख में होते हैं तो इंजेक्शन के पैसे और जो ऐसी दवाई थी अर्जेंट कोई ले गया तो मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं क्योंकि दिन रात कमा रहा हूं यहां बैठे तो अगर एक बार मुझे आपके लिए ऐसा कुछ कष्ट उठाना पड़ गया तो इसमें परेशानी की क्या बात है सोचिए उस मेडिकल स्टोर चलाने वाले इंसान का काम उसका प्रोफेशन सिर्फ प्रोफेशन नहीं है सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि एक यज्ञ बन गया है बन गया है कि नहीं बन गया है इस भाव से कीजिए हर एक काम अध्यापक हूं मैं मैं अपने छात्रों को क्या सोच के पढ़ाता हूं कि इनसे कितनी फीस मिलेगी मैं ये सोच के मुझे पढ़ाना चाहिए कि मैं जो जानता हूं उसको कैसे इनको अच्छी तरह अधिक से अधिक समझा सकूं फीस तो मिलेगी ही आठ फायदे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब आप सेटिस्फाइड हैं शायद आप करते भी रहे होंगे पर कल से इसमें और अधिक की भावना डाल दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपका हर कार्य यज्ञ बन जाता है हर कार्य पुण्य बन जाता है हर कार्य का परिणाम आनंद हो जाएगा सुख तो मिलेगा ही ऐसा मिलेगा उससे आप सुख उठाएंगे लेकिन आनंद पाना भी सीखें तो अब ये दस मिनट अगली बार के लेक्चर में और कम हो गए जी जी जी आपके ज्ञान हाँ, अब माता जी की इजाजत नहीं मैं आपसे बाद में बाद में बात कर लेता तो जी जी जी जी तो कुछ लोग बहुत नीचे बेसब्री से खाने के लिए they have started the food although we very much want